कार्य कार्य रूपस्थ पर ईश्वर से आसनता उच्यते उत्तम से लोके से कार्य ब्रह्म है हिरण्य गर्भ सत्यलोक में स्थित है उसमें ईश्वर सन्निकट है सत्यलोक में इसलिए उत्तम उत्तमेशु लोकेशु कहा उत्तम लोके टीका में तत्कार्यात्मना स्थितम परम ब्रह्म उत्तम उत्तमेशु लोकेशु इति उच्यते हिरण्य गर्भ आदि कार्य रूप से स्थित है परम ब्रह्म हिरण्य गर्भ से कार्य ब्रह्म है इसलिए उत्तम श्लोक से कहा यद्यपि सर्वत्र है तस्य सर्वत्र सतोपि सत्यलोकादिशु हिरण्य गर्भ गर्भादि आत्मना अतिशयन नित्याभिव्यक्तवाद ब्रह्म सर्वत्र विद्यमान है आकाशवत सर्वगत नित्य सर्वत्र सतह विद्यमान सर्वत्र विद्यमान होने पर भी सत्यलोकादियों में नित्य अभिव्यक्त है अतिशयन अत्यंत हिरण्य गर्भात्यात्मन हिरण्य गर्भ रूप से कार्य ब्रह्म रूप से स्वयं स्थित है हिरण्य गर्भ कोई शुद्ध ब्रह्म से अलग नहीं है ईश्वर भी शुद्ध ब्रह्म से कोई भिन्न नहीं है माया माया उपाधि को होकर के ईश्वर कहा जाता है और सूक्ष्म उपाधि को होने से उसका ही नाम हिरण्य गर्भ हो जाता है वही पर ब्रह्म ही हिरण्य गर्भ रूप से अत्यंत अभिव्यक्त है ब्रह्मलोक में सत्यलोक में यदि कि सर्वनामना प्रकृतम ब्रह्म परामृश्यते यद इदम अस्मिन अंतपुरुष ज्योति इदम बाल तद यद इदम यद यदि सर्व भाष्य में आया यद इदम अस्मिन पुरुष अंतर्मध्ये ज्योति इदम भाव इदम भाव का अर्थ इदम एव भाव का अर्थ एव इदम एव तद यदिदम यद शब्द से यदि सर्वनामना प्रकृतम ब्रह्म परामर्श है जो ब्रह्म है उसका परामर्श होता है ब्रह्म ही इसी पुरुष में अंदर ज्योतिरूप में स्थित है तस्य उपास्यवार्थम संसारा उपरिष्टा अवस्थान उत्तम प्रकृत ब्रह्म है वो उपास्य है उपासना करने के लिए संसार के ऊपर है इसे कहा गया अवस्थानम न कार्य अवस्थान उत्तम इधानी कौक्षय ज्योतिषी तदारोपयती कुक्षो भव जाठराग्नि में इसका आरोप करते इदम अश्विनी पुरुष अंतर्मध्य ज्योति कौक्षय ज्योतिषी प्रतीक प्रमाण दर्शयती ये ज्योति है जात्राग्नि प्रतीक है उसमें पर ब्रह्म की उपासना करते हैं जैसे सालग्राम में विष्णु की उपासना है नर्मेदेश्वर में शिव जी की उपासना है इसे जात्राग्नि में ब्रह्म की उपासना है ये प्रतीक है इसे प्रतीक में प्रमाण दिखाते हैं चक्षु श्रोत्र ग्राह्यण लिंगेन उसीम्ना उष्णिम्ना शब्देन च अवगम होते हैं जात्राग्नि है इसमें प्रमाण देते प्रतीक है जात्राग्नि चक्षु सत्रग्राही न चक्षुग्राह्य होता है रूप सत्रग्राह्य होता है शब्द चक्षु सत्रग्राह्य न ये लिंग है अनुमापक है जिसे धूम वन्य का लिंग ज्ञापक है लीनम अर्थम ज्ञान गमयती लिंगम संदिग्ध साध्य को निश्चय कराता है लिंग ध्रुव से जैसे बनने का निश्चय होता है इसी प्रकार उष्ण स्पर्श के द्वारा अनुमान किया जाता है देह के अंदर जाकर आदमी है ठीक है नहीं चक्षुष्य भवती फलवचनानुसारेण स्पर्श रूपैक्यम आध्यासिक आदाय उष्णिम्न चाक्षुषत्व द्रष्टव्य आगे जो इसे उपासना करता है चक्षुष भगवती चाक्षुष सुंदर होता है रूपवान होता है ये फल कथन के अनुसार स्पर्श रूप रूपैक्यम आध्यासिकम आदाय यद्यपि स्पर्श त्वगिंद्र ग्राह्य है रूप चक्षुरेन्द्र ग्राह्य है दोनों भिन्न भिन्न है स्पर्श और रूप है किंतु ऐसे जो उपासना करता है चक्षुष भगवती कहा और उसका लिंग दिया चक्ष स्पर्श चक्षुग्राह्य कहते हैं स्पर्श कहते तो स्पर्श रूप में एकता वास्तव एकता नहीं आरोपित एकता आध्यासिकम ऐक्यम आधाय आध्यासिक एकता को ले करके उष्णिम्न चाक्षुषत्व द्रष्टव्यम जो उष्ण स्पर्श है उसको चक्षुग्राह्य कहा गया दोनों में एकत्व आरोप करके रूप स्पर्श और ऐक्याध्यात्म स्फुटी रूप और स्पर्श दोनों भिन्न भिन्न है फिर दोनों में एकत्व का आरोप करके कहा चक्षु ग्राह्य ग्राह्य न उष्णिमना तो रूप स्पर्श में जो ऐक्य अध्यास कहा था उसका स्पष्ट करते भाष्य में यद त्वचा स्पर्श रूपेण गृह तचक्षित तो अगिंद्र के द्वारा स्पर्श रूप से जिसका ग्रहण होता है तो चक्षु का ही चक्षु से ही ग्रहण होता है कैसे होता है टीका यद उष्णम तेजो द्रव्यात्मकम त्विंद्रेण स्पर्श रूपेण गृहते तक्षु से वह थे तत्र हेतुमाह उष्ण तेज द्रव्य वन्य आदि त्विंद्र के द्वारा स्पर्श रूप से ग्रहण होता है चक्षु से वह थे चक्षु के द्वारा भी ग्रहण होता है उसमें हेतु देते हैं दृढ़ प्रतीत करत्वा त्वच तो दृढ़ प्रतीति से दृढ़ प्रतीति होती है त्वचु दृढ़ायाम प्रतीतो हेतुत्व चक्षुषा तादात्म्य आरता त्वच दृढ़ायाम प्रति त्वगिंद्रिय दृढ़ प्रतीति का हेतु है चक्षु से भ्रांति होती है बनने या तो नहीं त्वगिंद्र से स्पर्श गर्म हुआ तो उसमें निश्चय हो गया है दृढ़ प्रतीति का हेतु है वन्य आदि के लिए चक्षुषा तादात्म्य आरता चक्षु के साथ तो खगेंद्र का तादात्म आरोप किया आरोप करके चक्षु का है तो बता दिया चक्षु से जो ग्रहण होता है उसका फिर दृढ़ निश्चय होता है खगेंद्र के द्वारा तो चक्षु इंद्र ग्राह्य को भी खगेंद्र से दृढ़ निश्चय करने से वो दोनों में एक तो आरोप करके कहते आरोप करने में तो कोई नहीं आरोप ही वास्तव नहीं है ये रूपवत भवती तत्स्पर्शवती नियमाच रूप स्पर्श में भी नियम है जिस जिसमें रूप है वो सब में स्पष्ट है और जिस जिसमें स्पष्ट है वहाँ रूप है वायु में स्पष्ट है क्या वायु में स्पष्ट है रूप यत्र यत्र स्पर्श तत्र तत्र रूपम नास्ति यत्र रूपम तत्र है रूप है पृथ्वी जल तेज में स्पर्श चिन्ह में है हाँ तो व्याप्य कौन होगा को कौन होगा व्याप्य कौन है रूप यद रूपवत भवती तत्पर्शवत इस नियम रूप जहाँ है वहाँ अवस्पर्श है नियम से रूप स्पर्श साधात्म अध्यास रूप है तो स्पर्श रहता है तो रूप स्पर्श में तादात्म आरोप करके तस्य सत्व शुद्धि तस्य स्पर्श से साक्षी सहित कहा गया अविनाभूतत्व दोनों में व्याप्ति है रूप है तो अवश्य स्पर्श रहेगा रूप के बिना स्पर्श नहीं रहता है नहीं रहता है हाँ, रूप रहेगा तो अवश्य स्पर्श रहेगा रहेगा रूप रहेगा तो अवश्य स्पर्श रहेगा नहीं हाँ रूप रहेगा तो अवश्य स्पर्श रहेगा स्पर्श के बिना रूप रहेगा स्पर्श के बिना रूप नहीं रहेगा रूप रहेगा तो अवश्य स्पर्श रहेगा रूप नहीं रहेगा तो रूप नहीं रहने पर भी वायु में स्पर्श रहता है हाँ स्पर्श रूप नहीं रहने पर वायु में स्पर्श रहेगा हाँ रूप जहाँ रहेगा वहाँ अवश्य स्पर्श रहेगा है रूप रहेगा तो वहाँ अवश्य ही स्पर्श रहता है बताए स्पर्श के बिना रूप ज्ञान रहेगा क्या रहेगा स्पर्श के बिना रूप कहीं नहीं रहता है हाँ, समझ लो रूप जहाँ रहेगा अवश्य स्पर्श रहना चाहिए स्पर्श नहीं रहेगा तो रूप नहीं रहेगा व्यापक अभाव व्याप्य अभाव हो रूप स्पर्श तादात्म अभ्यास अभिनाभ तत्व आश्चर्य रूप स्पर्श ज्योतिषो लिंगम औष्ण्यम तस्य से चाक्षुषत्व उपादय पृछति ज्योति का लिंग ज्ञापक होता उष्ण स्पर्श औष्ण्य तस्य ग्राह्य से उष्ण स्पर्श तो त्वगिंद्र ग्राह्य है उसमें चाक्षुषत्व प्रतिपादन करने के लिए पूछते हैं कथम पुनः तस्य ज्योतिषो लिंगम त्वदृष्टिगोचरतम आपद्यते तसे ज्योतिष लिंगम ज्योतिष तेज का लिंग है उष्ण स्पर्श है त्वग दृष्टिगोचर तो त्वग इंद्रिय का विषय तो है और चक्षु इंद्रिय का विषय तो कैसे होगा ये तथा यत्र यस्मिन काले टीका में तस्ेषा दृष्टि इत्यादि वाक्य ने उत्तर दशय यत्र इत्यादि व्याकृति श्रुति वाक्य है तस्सा दृष्टि यत्र शरीर संस्पर्शन उष्णमान बीजानाति ये मंत्र है तस्सा दृष्टि से यदि वाक्य से उत्तर दिखाते हुए यत्र इत्यादि वाक्य के व्याख्यान करते आह यत्र यस्मिन काले यत्र एतद उष्णमान संस्पर्शन बीजानाति अस्मिन शरीर स्पर्श के द्वारा उष्ण स्पर्श को ग्रहण करता है उसमें एतद दिया है एतद कहते क्रिया विशेषण एतद यथा एतद विज्ञान सैत तथेति विज्ञान क्रियायाम विशेषण एतद पदम पदम एक संस्पर्श संस्पर्शन विज्ञानत में एतद क्रिया विशेषण क्रिया का विशेषण होता है क्रिया विशेषण यथा एतद विज्ञान सैत तथा जानाति एतद विज्ञान सैत यथा एतद विज्ञान सैत तथा विजानाति कह करे विज्ञान क्रिया में विशेषण हो गया एतत् विज्ञान क्रिया में विशेषण एतत् इति बराबर पदम मृदु पचति मृदु यथा सा तथा पचति पाक करता है जैसे मृदु हो जाए कोमल हो जाए पक जाए एतद विज्ञात में एतद यथा क्या तथा विज्ञानाति एतद विज्ञान ये पश्चात इस क्रिया विशेषण होने से द्वितीय अंत होता है एतद विज्ञानाति आह यत्र यथेत संस्पर्शन उष्णीमान विजाना चेत प्रथम तरी से चाक्षुषत्व इत्याशंक आह संस्पर्श स्पर्श के द्वारा उष्ण स्पर्श का अनुभव करता है तो फिर चाक्षुषत्व कैसे हो रहा है प्रश्न में आएगा कैसे इतम क्या रूप सहभागिनम भाष्य में एक एतदिति क्रिया विशेषण अस्मिन शरीर हस्ते न आलभ्य संस्पर्श न उष्णमान रूप सहभागिनम उष्ण स्पर्श भाव बीजानाती अस्मिन शरीर सत्य न आलभ्य शरीर में हाथ स्पर्श करके संस्पर्श न स्पर्श के द्वारा उष्णिमान उष्ण स्पर्श का ग्रहण करता है रूप सहभागिन रूप के साथ रहने वाला उष्ण स्पर्श उष्ण स्पर्श तेज में है रूप के साथ है उष्ण स्पर्श भाव भी जाना से उष्ण स्पर्श को जानता है ठीक है नहीं भगवत औपचारिकम औष्ण से चाकी कथम तथा कथम तस्वीर लिंगत्म इतिहासन जीवन प्रत्यायन द्वारा कौक्ष ज्योतिष तस्य लिंगत्व साधयति ये औपचारिक है उष्ण स्पर्श में सत्व वास्तव नहीं है उष्ण स्पर्श है तो रूप रहेगा ये तो ठीक है इसलिए स्पर्श में चाक्य सत्व कहा गया औपचारिक गौण है आध्यात्मिक आरोपित है वास्तव नहीं है ठीक है आरोप करके गौण प्रयोग होता है जैसे मानव को तो लड़का को सिंह कह दिया सिंह मानव को सिंह भिन्न है नहीं है तो भी उसे में आरोप करके कह देते हैं इसी प्रकार इसी में आरोपित तो चाक्षुषत्व उष्ण स्पर्श में आ जाए कोई बात नहीं तथा भी कथम तथ्य लिंगत्व वो लिंग कैसे होगा जाक्षाग्नि इत्यासन के जीवन प्रत्यायन द्वारा कौक्ष ज्योतिषी तथ्य लिंगत्व थी उष्ण स्पर्श जाक्षाग्नि का लिंग है जीवन प्रत्यायन द्वारा जब तक जीवन है प्राण है तब तक गर्मी लगती है गर्मी मर जाने पर वही शरीर ठंडा हो जाता है तो जीवन ज्ञापन करके कौक्ष जात्रा में वह उष्ण स्पर्श लिंग ज्ञापक होता है सही भाषा में सही उष्णिम ना उष्णिमा हाँ उष्णिमा उष्ण स्पर्श नाम रूप व्याकरण देहम अनुप्रविष्ट चैतन्य आत्म ज्योतिष लिंगम अव्य विचारा उष्णिमा अर्थात उष्ण स्पर्श नाम रूप व्याकरण देहम अनुप्रविष्ट से चैतन्य चैतन्यात्म ज्योतिष तत्सृष्टा तदेव अनुप्राविश्य सृष्टिकर्ता ही देह में प्रविष्ट हुआ अने जीवनात्मा न अनुप्रविश्य नाम रूप व्याकरवाणी जीव रूप से प्रविष्ट होकर के नाम रूप व्याकरण करो उसे परमात्मा ने संकल्प करके प्रवेश किया नाम रूप व्याकरण करने के लिए सृष्टि करने के लिए देहम अनुप्रविष्ट से चैतन्य आत्म ज्योतिष देह बनने के बाद उसके बीच प्रविष्ट हुआ चैतन्य आत्म ज्योति उसका लिंग हुआ उष्ण स्पर्श अव्य विचारा क्योंकि जब तक उष्ण स्पर्श है तब तक तो जीव हुआ है टीका में जीवात्मना तस्य अव्यभिचार स्फुरेत जीवात्मा के साथ उष्ण स्पर्श का अव्यभिचार अवश्य संबंध है स्पष्ट करते हैं नहीं जीवंतम आत्मान उष्णिमा व्यभिचरती उष्ण जीवित निश्चित तो मरिष्यानी थे ज्ञाते जीवंतम आत्मान जो जीवित है उष्ण स्पर्श का व्यभिचार नहीं होता अवश्य उष्ण स्पर्श रहता है कभी कभी हाथ पर ठंडा हो जाए साथ में शेर में देखें तो गर्मी होती है उष्ण तो स्पर्श है उष्ण है जीवित करना अभी जीवन है जीवित रहेगा तो गर्म रहता है और ठंडा हो गया तो मरने वाला है ठीक है नहीं तत्र तो श्रुति में संवादित ये विचार है जीव है तो उष्ण स्पर्श है ये श्रुति संप्रमाण का तो उष्ण व जीवित यदा जीव से लिंगम औष्ण्यम तदा परस्या ज्योतिष लिंग भवती जो जीव का लिंग ज्ञापक तो हो गया उष्ण स्पर्श तो परमात्मा का भी परमात्मा जो पर ज्योति पर ब्रह्म स्वरूप प्रकाश रूप है स्वयं प्रकाश आत्मा का भी लिंग होगा जीव का यदि लिंग हुआ तो ब्रह्म का लिंग क्यों होगा जीव पर तो अवगमान क्या सृष्टिकर्ता ही तत्सृष्टा तदेवानुप्रविशत वही परमात्मा ही जीव रूप से प्रविष्ट हुआ जीवन जीवनात्मा अनुप्रविश्य तत्व से प्रमाणे स्थिति है जीव पर एकत्व आवेदना जीव ब्रह्म में एकत्व होने से जीव का लिंग जो उसमें स्पर्श हुआ तो ब्रह्म का भी लिंग हो गया मरण काले से तेज परस्याम देवता परेण अविभाग प्रोपगमात तेज परस्याम देवता एक हो जाता है तेज पर देवता है पर ब्रह्म के साथ अविभाग एक हो जाता है ऐसे श्रुति में कहा गया है टीका में वाघादि मनसी मन प्राणी प्राण तेजसी तदध्यक्षलक्षण परस्याम देवतायाम परमात्माख्यायाम संपद्यते श्रुतिया जीव से परेण तदर्थात्मन साभिन्न से उपगमा जीव से लिंगम तदवती पर से लिंगम क्या जीव का जो लिंग उसमें स्पर्श वो परमात्मा का ही लिंग है वाघादि मनसी वाघादि इंद्रिय मन में लीन हो जाती है मन प्राणे मन प्राणे और प्राणस तेजसी प्राण तेज रूपम तद अध्यक्ष लक्षण परस्याम देवताया जो तेज जीव है पर देवता परमात्मा में तद अध्यक्ष लक्षण प्राण अध्यक्ष जीवात्मक जो तेज है तेज का तो जीव है वो अध्यक्ष जीव है कार्यक्रम संघात का अध्यक्ष है जीव वो परमात्मा में लीन होता है परमात्मा क्यायाम संपद्यते श्रुति के श्रुति में जीव से पर्ण तदर्थात्मना तदर्थात्मना से अभिन्नत्व से उपगमनात् जीव पर के साथ अभिन्न है आत्मना तत्पदार्थ तत्वमसी में जो तत्पद का अर्थ है तदर्थ तत्पद का अर्थ है तदर्थ परमात्मा तदर्थात्मना परमात्मना परमात्मा रूप से परेण परमात्मा तदर्थ है महावाक्य में तत्पद का अर्थ ब्रह्म जीव का ब्रह्म के साथ अभिन्नत्व से उपगमात तदर्थात्मना सह तत्पदार्थ जो ब्रह्म उसके साथ जीव से अभिन्नत्व से अभिन्नत्व से उपगमा स्वीकार एकत्व तो माना जाता है जीव ब्रह्म की एकता तत्वमसी तो जीव का जो लिंग हुआ जीव से लिंगम तद भवती जीव का लिंग होता हुआ परमात्मा का भी लिंग है यदा ही जीव से परस्य यथोक्त लिंगाद अवगति तथा तत्र कौक्ष ज्योतिष तदधिकरण से सूत्रान अवगतिरस्ती जीव से परस जीव और पर एक है यथोक्त लिंगाद अवगत उष्ण स्पर्श से ज्ञान होता है अवगत ज्ञान है तदा तत्र कौक्ष ज्योतिष जो कौक्ष जात्राग्नि तद अधिकरण से उष्ण स्पर्श का अधिकरण जात्राग्नि में अवगति जो प्रतीक है जात्राग्नि उसका भी निश्चय होता है वही जात्राग्नि है प्रतीक जिसमें ब्रह्म दृष्टि करके उपासना करे यही चल रहा है अतः अत अतो असाधारण लिंगम औष्ण्यम अग्निवधुम धूम जैसे अग्नि का लिंग है ज्ञापक है इसी प्रकार औष्ण्यम असाधारण लिंगम परमात्मा का उष्ण है प्रतीक अग्नि का लिंग और जाठाग्नि होने से उसमें ब्रह्म दृष्टि करके उपासना करे उष्ण से जाठर ज्योतिषी प्रतीक लिंग तलिंग मार उष्ण स्पर्श जाठराग्नि ज्योति जो प्रतीक है ब्रह्म का उसमें लिंग हो गया उष्ण स्पर्श तलिंगम आह तलिंगम तलिंग तस् लिंगतम आह वही व्याख्या लिंग है अतस्त पर ऐसा दृष्टि साक्षादिव दर्शन दर्शन उपाय करता इसलिए जो दृष्टि दर्शन है ज्ञान उस संस्पर्श का ज्ञान होता है साक्षात परमात्मा का ही दर्शन साक्षात इव साक्षात नहीं होता है साक्षात जैसे उसे दृढ़ निश्चय हो जाता है परमात्मा का यही दर्शन उपाय है इसके द्वारा परमात्मा का चिंतन करें विष्णु विव प्रतिमायाम जैसे विष्णु का चिंतन ध्यान करते प्रतिमा में कालग्राम में भी इसी प्रकार जाठरण ज्योतिषा परस्य ज्योतिष तादात्म्याद जात्राग्नि के साथ पर ज्योति का तादात्म होने से तद्रूप है जात्राग्नि रूप से परब्रह्म का उपासना करे चिंतन करे प्रतीक द्वारा दृष्टि उपाय तथा उपाय में लिंगांतरम दर्शेती व्याख्याग्नि है प्रतीक उसके द्वारा परमात्मा का दर्शन दृष्टि ये दृष्टि का साधन हो गया प्रतीक इसी प्रकार श्रवण उपाय में लिंगांतरम दर्शेती श्रवण का उपाय दूसरा लिंग देखा दिखाते तथा तसे ज्योतिष ऐसा श्रुति ही श्रवण श्रवणोपाय उच्चवाना जो स्वयं प्रकाश ज्योति हुई जात्राग्नि परमात्मा है उसका लिंग है जात्राग्नि और जात्राग्नि जो ज्योति उसका ये श्रुति का था तो श्रवणम श्रवण उपाय तो कहा जा रहा है यत्र यदा पुरुष ज्योतिष लिंगम श्रोतम इच्छति ये ज्योति का लिंग जो सुनना चाहता है तदेत कर्णा एक शब्द क्रिया विशेषण कर्णु अभिगृह कान को बंद करके शब्द सुनता है ये तदिक श्रवण का विशेषण है अपिगृह का तो अपिधाय तो बंद करके अपिधाय इत्यर्थ अंगुलिभ्याम प्रोन्नृत्य पूर्ण आच्छादन दो अंगुली के द्वारा कान दोनों तरफ बंद करके सुनता है शब्द निनतमिव निनतमिव का अर्थ करते रथ से घोषो में नद रथ का जैसे शब्द तम इव उसके समान शब्द सुनता है नदत रिव नदत के ऋषभ पूजित शब्द है ऋषभ पूजित इव जैसे शब्द करता है ऐसे शब्द यथाच अग्निव ज्वलत एवं अग्नि जो बाहर जलते हुए अग्नि उसका ये शब्द होता है गुरु अंत शरीर उपन शरीर के अंदर सुनता है कान बंद करने पर शब्द होता है वो जाग्नि का शब्द है तदेत ज्योतिर्ग दृष्ट सुत लिंगत्वात् दृष्टम च सुतम चैत उपासित ये ज्योति दृष्ट और सुत है लिंग जिसका दर्शन श्रवण उसका लिंग हुआ ये दर्शन है तो के द्वारा इसलिए उसकी उपासना कर दृष्टम च सुतम चैत उपासित दृष्टत्व श्रुतत्व गुण से उपासना करे और उपासना के अनुसार फल भी होगा टीका नहीं अपिगृह सुनोती के संबंध कान को बंद करके सुनता है यथा श्रवण एतद भवती तथा थी श्रवण क्रियाया विशेषण एत शब्द एतत् क्रिया विशेषण है एक श्रवण यथा सै तथा सुनोती प्रोलुप्य का तो पिता है धन अच्छा कर बंद करके अंगुली के द्वारा काम को श्रूयमाण शब्द से वाच्यार्थाभाव स्तुति करणार्थम अनेक दृष्टान्त उपादान जो शब्द सुनता है कान बंद करके नदत्व निनदव ऐसे जो विश्लेषण अलग अलग दृष्टान्त दिया श्रूयमाण शब्द से वाच्यार्थ अभाव शब्दार्थ नहीं है ये शब्द किसी अर्थ का वाचक नहीं है नदत नदत शब्द का अर्थ नहीं शब्दार्थ जो शब्द सुनता है किसी शब्द अर्थ नहीं शब्द का कोई अर्थ नहीं ऐसे शब्द सुनता है जो सूर्यमाण शब्द सुनता है शब्द वो शब्द का कोई अर्थ नहीं है शब्द के वर्णात्मक शब्द होता है कि ध्वनियात्मक शब्द होता है वर्णात्मक शब्द होगा तो उसका अर्थ होता है और ध्वनियात्मक जो शब्द है ध्वनि उसका अर्थ नहीं है और ध्वनि का जब अनुकरण करके कहते हैं किसी शब्द अक्षर के द्वारा कहते हैं तो अनुकरण में जो शब्द अक्षर प्रयोग होता है वहाँ अर्थ नहीं लेना होता है ध्वनि लेना है पटत ही पटत करके पेड़ गिर गया तो गिरते समय कोई पटत कहता ऐसा नहीं अग्नो भुग भुग ध्वनि अग्नि जलते समय भुगु भुगु ध्वनि होती तो भुगु भुगु शब्द से उसका अनुकरण किया गया नहीं कि अग्नि जलते समय कोई कहता है भुगु भुगु भुगु ऐसा नहीं ऐसे शब्द का अनुकरण करते उसका अर्थ नहीं है यहाँ भी जो शब्द श्रीमान शब्द है वाच्य अर्थ उसका कोई अर्थ नहीं है इसको स्पष्ट करने के लिए अनेक दृष्टान्त दिया गया कौक्ष ज्योतिष आरोपित ज्योतिष ध्येय ध्यानोपाय अंग गुणपेण उपदिशति कौक्ष ज्योति में यात्राग्नि आरोपित हुआ ज्योति परमात्मा परमात्मा का ही उपासना करे ध्येय आरोपित ज्योति है परमात्मा यात्राग्नि प्रतीक में ब्रह्म दृष्टि करके सर्वत्र प्रतीक में ब्रह्म दृष्टि करके उपासना करनी होती है ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षात ब्रह्म सूत्र माया है प्रतीक में ब्रह्म दृष्टि करना नाम ब्रह्म उपासित नाम में ब्रह्म दृष्टि मनो ब्रह्म उपासित मन में भी ब्रह्म दृष्टि करके उपासना सावग्राम में भी विष्णु दृष्टि पर ब्रह्म दृष्टि उपासना इसी प्रकार यात्रा में भी परमात्मा का ध्यान करे ध्यान का उपाय अंग ध्यान जब करे तो उसका अंग और ध्यान का साधन अंग रूप से दो गुणों उपदेश करते हैं ऐसे गुण चिंतन करना होता है ध्यान के समय सगुण उपासना करते समय गुण चिंतन करना होता है यहाँ भी दो गुण देते हैं दृष्टम सुखमिति उपासित दृष्ट दृष्टमिति उपासना फलमाह उपासना भी उसके अनुसार फल होता है उपासना का तथोपासना चक्षुष दर्शन श्रुतो विश्रुत दृष्टम गुण से उपासना करने से उपासक चक्षुष्य होता है दर्शनीय रूपवान होता है सुंदर दिखता है और श्रुतम उपासना करेंगे तो विख्यात होता है श्रुत श्रुतम उपासना फलमा श्रुतो विश्रुत होता है विख्यात होता है कथम पुनः स्पर्श गुणोपासना स्पर्शो वक्त वक्तव्य चक्षुषो भवती उच्य तथा जब स्पर्श गुण उपासना करेंगे तो स्पर्श्य भवती स्पर्श के योग्य होता है ऐसे कहना चाहिए वहाँ चक्षुषो भवती सुंदर होता है कैसे कहा गया तथा यद स्पर्श गुण उपासना निमित्त फलम तदरूपे संपादयती चक्षुषी स्पर्श रूप जो गुण है इस स्पर्श उपासना के कारण जो फल मिलता है वो तो फल रूप में संपादन करके चक्षुष होती रूपवान होता है क्योंकि पहले कहा था रूप स्पर्श में एकत्व आरोप करके और रूप को भी तो स्पष्ट को भी चक्षु ग्राह्य कहा था रूप स्पष्ट हो सहभागी का सहभागी संपादन निमित्त माह तो स्पष्ट रूप में संपादन करते हैं आरोप करते किंतु दोनों एक साथ रहते हैं इत चक्षुष्य भवती थी उचित क्या इस कारण से भी चक्षु का दर्शन के लिए प्रिय होता है क्योंकि इष्टत्वाच दर्शनीयताया दर्शनीयता शरीर में रूप इष्ट है चौथ फलवचनम अपनी संपादन कल्पकम क्या जो फल कथन किया वो भी उससे कल्पना होते इसे संपादन करके कहा गया जो संपादन किया रूप में स्पर्श गुण उपासना का फल एवं च विद्या फलम उपपन्नम सद विद्या उपासना है उपासना का फल प्रामाणिक तो होगा ऐसा मानने के तो तो स्पर्श से अनुभव होता है इसे उपासना करने से दृष्ट होता है चक्षुष्य होता है यदा स्पर्श गुणोपासना निमित्तम फलम रूपे संपादित है स्पर्श रूप गुणों का उपासना करेंगे उपासना निमित्त का जो फल होता है रूप में संपादन करेंगे तब तो विद्या का फल बनेगा तथा विद्या फलम उपासना का जैसे फल कहा गया श्रुति में रूपपन्नम प्रामाणिक होगा यदि फलश्रुति अनुकूलता से जैसे फलवचन फलश्रुति अनुकूल हो जाएगी रूप विशेषवती चक्षुष शब्द से प्रसिद्ध विशेष रूप है तो चक्षुष चक्षु का प्रिय होता है यदि पुनर्मृदुत्वादि स्पर्श गुण से उपासना निमित्त फलम कल्प्यते तथा चक्षुष भगवती उत्तम फलम नैवोपन्न विचार ततच फलश्रुति अपवादिता भवे मृदुत्वादि स्पर्श गुण से यदि उपासना मृदुत्वादि स्पर्श गुणों का उपासना करेंगे उपासना निमित्त फल कल्पना करेंगे तो स्पर्श गुण उपासना का फल तो स्पर्शवान होगा रूपवान नहीं होगा तथा चक्षु से भगवती ये श्रुति में कहा गया ये फल नहीं बनेगा नहीं उपकरण से ततच तो फलश्रुति का बाद हो जाएगा अथवा का भवित इसलिए रूप उष्ण स्पर्श से ऐसे चिंतन करेंगे रूप और स्पर्श में एक तो आरोप करके चिंतन करने से फल होगा चक्ष न तो भाष्य में न तो मृदुत्वादि स्पर्श वस्तु मृदुत्वादि स्पर्श वस्तु होगा तो फल नहीं बनेगा कस्य इदम फलम इति अपेक्षा नहीं किसका फल है ये एवं यथोक्त गुणो वेद दृष्टम श्रुत गुण को जी उपासना जो करेगा उसको फल प्राप्त होगा नम पर ज्योतिष जाथर ज्योतिष आरोपित से यथोक्त गुणवत्तो ध्यान कथम इदम अत्यल्पम फलम अनुरूपम उपदिश्य तत्र ब्रह्म का ही उपासना है परस्य ज्योतिष पर ज्योतिष स्वयं प्रकाश ब्रह्म जाकर ज्योतिष आरोपित से जाठराग्नि में आरोपित करके परब्रह्म का उपासना परब्रह्म का जहाँ उपासना हुआ यथोत गुणवत ध्यान ऐसे दृष्टम सुख ऐसे गुण वाले ब्रह्म का ध्यान परब्रह्म का कोई ध्यान करेगा उसका फल है सुंदर हो जाएगा और विख्यात हो जाएगा ये कोई विशेष फल क्या फल तो सामान्य प्रथम एकदम अत्यल्पम फलम ये तो अति तुच्छ है कोई ऐसे ही विख्यात हो जाते बिना कारण और कोई ऐसे ही सर्ज सुंदर है कोई व्यास जी तो बहुत सुंदर नहीं थे अष्टावक्र भी थे ज्ञानी तो सुंदर हो गया अथवा विख्यात हो गया विख्यात तो बहुत हो जाते बाद में जेल जाते हैं <laughs> तो इसी प्रकार दृष्टसुत हो गया तो क्या हो गया अनुरूपम उपदिशत तत्रह सर्गलोक प्रतिपत्ति उत्तम अदृश्य फलम मुख्य पर्वत तो है ब्रह्म प्राप्ति स्वर्ग लोग पति प्राप्ति है ये पहले कहा था अदृष्ट फल है और ये जो दृष्ट श्रुत होता है ये तो अभांतर फल है ये दृष्ट फल है अदृष्ट है स्वर्गलोक प्राप्ति स्वर्गलोक शब्द से भी भगवान ब्रह्मलोक प्राप्ति जैसे उपास्य है उपास्य तादात्म प्राप्ति जैसे उपासना करेगा तादात्म होने तक तो उपासना करता है तो उपास्य स्वरूप को प्राप्त कर लेगा सगुण ब्रह्म की उपासना करें तो सगुण ब्रह्म को प्राप्त करेगा फिर चरण मृत्यु को प्राप्त करेगा फलवत्याम विद्याम आदर विवक्षित ऐसे वीर अभ्यास आदरार्थ दो बार मंत्र में आया अभ्यास आदित्य हुई यह एवं वेद यह एवं वेद ऐसे दो बार जो कहा है ये आदर के लिए वीर अभ्यास आदरार्थ दो बार अभ्यास किया आवृत्ति की आदर के लिए आदर किसमें में फलवत्याम विद्यायाम आदरो विवक्षित फल वाली विद्या फलवती विद्या उस विद्या में आदर के लिए यह एवं वेद यह एवं वेद ऐसे अभ्यास आदृति की गई आगे चतुर्दश खंड है इसका नाम है सांडिल्य विद्या है सांडिल्य विद्या ब्रह्मसूत्र इसके ऊपर विचार किया गया ये बड़े प्रसिद्ध है है सर्वत्र प्रसिद्ध उपदेशा ऐसे ब्रह्मसूत्र है प्रसिद्ध का उपदेश करने से यहाँ ब्रह्म का ही उपदेश है सांडिल्य विद्या प्रतीक द्वारा ब्रह्मोपासन मुक्त प्रतीकम हित्वा सगुण ब्रह्मोपासन मुक्तम यश्यति पुनरुक्ति देना प्रतीक उपासना तो है प्रसिद्ध है शालग्राम की उपासना विग्रह में शालग्राम में शिवलिंग की उपासना ये सब प्रतीक उपासना है प्रतीक उपासना वेद में प्रसिद्ध है तो सालग्राम शिवलिंग के लिए नहीं प्रतीक प्रतीक रूप से उपासना मनो ब्रह्म उपासित नाम ब्रह्म उपासित ये सब प्रतीक उपासना है और परब्रह्म भी चक्षु विषय होते हैं इसमें साम वेद प्रमाण है केन उपनिषद आया देवता लोगों का गर्व हो गया कि अशोक को पराजित करके हम हमारी जय होगी हमारी महिमा तो उनके सामने कोई निर्मल स्तंभ प्रकाश यक्ष प्रतीत हो गया तो यक्ष क्या है इसको जानने के लिए अग्नि वायु क्रम से गए इंद्र अंत में जा कर के फिर उनका ध्यान किया ध्यान क्रम से फिर परमात्मा की विद्या हईमवत्युमा नाम आया वो प्रकट होकर के उपदेश किया तब ज्ञान हुआ इंद्र को तो ये प्रतीक का जो चक्षुर गोचर हुआ ब्रह्म यक्ष शब्द से कहा गया उसका ध्यान करने से इंद्र को फल प्राप्ति हुई ये प्रतीक उपासना सामवेद में आई और नाम ब्रह्म इत्यादि का वो जो प्रतीक दिया वही पर ब्रह्म चक्षु के विषय होते हैं ऐसे उनका ध्यान करके चिंतन करने से हेमवत क्या ब्रह्म विद्या का उपदेश हुआ तो ये प्रतीक उपासना तो है किंतु प्रतीक के बिना सगुण ब्रह्मोपासना और श्रेष्ठ है सगुण ब्रह्म ही माया विचित ब्रह्म जो कि सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है सर्वव्यापक है अष्टादश पुराण में जहाँ जहाँ अवतार प्रतीकोपासना कहते हैं वहाँ से शुरू करके अंत में सर्व सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान व्यापक परमात्मा की उपासना एक प्रतीक लेकर के अवतार मूर्ति विग्रह आदि के चिंतन करते करते फिर कहेंगे आप तो व्यापक है सर्वज्ञ है सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाले ऐसे करके सगुण उपासना है प्रतीक में परिचिन्न बुद्धि नहीं ब्रह्म बुद्धि करनी है प्रतीकत है परिचन्न किंतु उसमें पर ब्रह्म अपरिचिन्न ब्रह्म का आरोप करके ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षात पर ब्रह्म की दृष्टि करके करके उपासना करनी चाहिए तो जो ऐसे कर सकते हैं आगे फिर प्रतीक में समझ नहीं पहले तो प्रतीक आदि में ब्रह्म बुद्धि करे तो सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि कर सकता है फिर सर्वत्र सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा है माया विशिष्ट चेतन सगुण ब्रह्म अभी यहाँ शांडिल्य विद्या में प्रतीक को छोड़ करके सगुण ब्रह्म उपासनम उपन्यास्य सगुण ब्रह्म का है पुनस्तव त्रिपादमृत ब्रह्मणु अनंत गुणवत्व अनंत शक्तिरनंत अनेक भेद उपास्य विशिष्ट गुण उपासन विदितन आह तस्व अमृत से ब्रह्मण त्रिपाद त्रयोपादाय से तीन पाद वाला अमृत है त्रिपाद से अमृतम दिवि पाद से विश्वाभूता सारा ब्रह्मांड तो एक पाद पर ब्रह्म का और तीन पाद है जिसमें कोई विकार नहीं विकार आवर्ती कोई कार्य प्रपंच है ही नहीं एक पाद भी विकार नहीं है विकार जैसे लगता है तीन पाद तो अमृत है जो त्रिपाद अमृत ब्रह्म है शुद्ध है उसका उपासना अनंत गुणवत अनंत गुणवत अनंत गुण वाले परमात्मा जो सगुण ब्रह्म माया विचित होने से सगुण हुआ और गुण कितने हैं अनंत गुण है अनंत बता अनंत गुण कैसे हुआ उसमें कहाँ से आए अनंत शक्ति शक्ति अनंता शक्ति से अनंत शक्ति होने से गुण भी अनंत है माया है तो गुणात्मिका शक्ति अनेक भेद उपास्य से अनेक भेद है ना तो अनेक प्रकार उपास्य है परमात्मा विशिष्ट गुण शक्ति मत उपासना विशिष्ट गुण विशिष्ट शक्ति विशिष्ट गुणवत्व न विशिष्ट शक्तिमत्व न बहुत गुण शक्ति युक्त परमात्मा का उपासन विदितन विधातम इच्छन विधान करना चाहते हुए कहते हैं कहती स्थिति भगवती कहती है सर्व ठीक है तस् निरुपाधिक व्यावृत अनंत गुण ये जो ब्रह्म का उपासना भी कहेंगे निरुपाधिक ब्रह्म नहीं सोपाधिक ब्रह्म सगुण ब्रह्म अनंत गुणवत कथम एक से अनंत गुणत्व एक ही ब्रह्म उसमें गुण अनंत कैसे होंगे तत्र अनंत सत्य अनंत शक्ति के कारण गुण वास्तव निर्गुण निर्गुण है माया के कारण अनंत गुण है नन पूर्वमेवास उपासना अतिवृता तथा जो वक्तव्य से सनाती इत आशंका शंका करते ही ब्रह्म का उपासना तो पहले भी कहा गया है उपासना उपासना कितने उपासना कहेगी तथा जो वक्तव्य जैसे ही नहीं कुछ कहने का नहीं ब्रह्मों का उपासना भिन्न भिन्न उपासना से बहुत बार कहा गया इत्यादि संख्या है अनेक भेद उपास्य अनेक भेद से अनेक भेद विशेष में उपास्य है ब्रह्म गायत्री आदि उपाधिशु अलग अलग उपाधिशु में ब्रह्म उपास्य है गायत्री आदि उपाधिशु उपास्य से ब्रह्म यद्यपि गायत्री आदि उपाधि में ब्रह्म उपास्य पहले कहा गया अभी कुछ विशिष्ट गुणों के साथ उपासना कहेंगे मनोमय आदि गुण विशिष्ट गुण प्रेम मनोमय भार आदि विशिष्ट गुण युक्त ब्रह्म की उपासना कहेंगे विशिष्ट शक्ति मत विशिष्ट शक्ति उसमें ऐसे अंतर विधानार्थम अन्य उपासना विधान करने के लिए उत्तर वाक्यम आगे वाक्य है सर्व खलुदम ब्रह्म तलानी शांत उपासित अथ खलु क्रतुमय पुरुषो यथा क्रतुस्मिन लोके पुरुष भवति तथेत प्रेत्य स क्रतुम कुर्वीत सर्व खलु इदम ब्रह्म इदम सर्व खलु अलंकार में ब्रह्म इदम सर्व ब्रह्म इदम सर्व कह करके ज्ञायमान सर्व का अनुवाद करते हैं इधम से जो कुछ दिखता है दिखता है क्या तो चक्षु से केवल नहीं चक्षु से हो किसी इंद्रिय से हो जितने माने है ये सब ब्रह्म है जो प्रसिद्ध का अनुवाद करते हैं अप्रसिद्ध का विधान किया जाता है जो दिखता है वह ब्रह्म है जो सर्प दिखता है वो रज्जु है और सर्प जो दिखता है वो सर्प नहीं किंतु रज्जु है इसको कहते बाध समानाधिकरण सर्वमिदम ज्ञायमानम जितने ज्ञान होते हैं सब ब्रह्म ही है सर्वम को अनु सर्व शब्द से सारे ब्रह्मांड जो ज्ञात है ज्ञायमान उसका अनुवाद करते हैं और विधान करते ब्रह्म है वास्तव ब्रह्म ही है जो दिखता है या सर्व नहीं है अनेक नहीं है नाम रूप वाला नहीं है किंतु ब्रह्म ही है सबका बाध करके ब्रह्म का विधान जैसे सर्प रज्जु जिसको हम सर्प समझ कर डर रहे थे वो सर्प नहीं किंतु रस्सी है इसी प्रकार जिसको हम सर्व समझ रहे हैं वो सर्व नहीं किंतु ब्रह्म है वासुदेव सर्वम वो भी हुए अर्थ है सर्वम हम जिसको नाम रूप भेद से भिन्न मानते हैं वो वासुदेव ब्रह्म ही है सर्वम ब्रह्म तज्जलान तज्जलान में तज्ज तल तदन तस्मा जातम ब्रह्म से जाते सर्व और तल तस्मिन लियते ब्रह्म में लीन हो जाता है प्रलय काल में और तदन तेन अनिति उससे प्राण चेष्टा व्यापार करता है उत्पत्ति स्थिति प्रलय उसी ब्रह्म से होने से जैसे घट मिट्टी से बना जब तक रहता है घट मिट्टी में रहता है नष्ट होने पर मिट्टी रूप हो गया उत्पत्ति स्थिति प्रलय मिट्टी से होने से घट मिट्टी रूप ही है इसी प्रकार ये सारा प्रपंच जो दिखता है ब्रह्मांड ब्रह्म से उत्पन्न हुआ ब्रह्म के द्वारा स्थित है ब्रह्म में स्थित है और ब्रह्म में लीन होता है इति शांत उपासित है इसलिए शांत होकर के शांत गुण समगुण युक्त होकर के ब्रह्म की उपासना करे सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि करके अथ खलु क्रतुमय पुरुष ये पुरुष क्रतुमय संकल्प वाला होता है यथा क्रतुरश्मिन लोक पुरुष भगवती तथे प्रत्यय भगवती इस लोक में जैसे क्रतु निश्चय संकल्प निश्चय करता है इसी प्रकार आगे मरकर इतः कृत्य यहाँ से मरने के बाद ऐसे संकल्प निश्चय के अनुसार ऐसे फल प्राप्त करता है इसलिए क्रतु निश्चय करे क्रतुम पूर्वित भाष्य में सर्व समस्तम खलुति तो निपात सर्व का तो समस्तम सर्व खलुजम ब्रह्म सर्व का तो क्या समस्तम सर्व क्या के सूत्र में क्या पद है खलु खलु का अर्थ क्या है खलुति तो निपात खलु ये शब्द वाक्य में अलंकार के लिए प्रयोग किया गया सुंदर सुनने के लिए खलु शब्द दिया अर्थ नहीं है निपात अव्य है सर्व खलु इदम आया इदम इदम का अर्थ है इदम जगत नाम रूप विकृतम नाम रूपाभ्याम विकृतम नाम रूप वाला जो जगत दिखता है प्रत्यक्षादि विषय प्रत्यक्षादि प्रमाण जन्य ज्ञान का विषय सर्व ब्रह्म ब्रह्म है कारण बृहत्तम ब्रह्म सबका कारण है बृहत्तम से उसको ब्रह्म कहा गया प्रत्यक्षादि विषय टीका में दिया तसे परामर्श हेतु माह तस् कल इदम ब्रह्म ये इदम कह करके सब को इदम शब्द से सब का परामर्श क्यों किया गया यह प्रत्यक्षादि का विषय प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय होने से इदम शब्द से सब का परामर्श किया गया प्रत्यक्षादि क्या ब्रह्म शब्द से अर्थ विशेषण व्यावृत थी यहाँ ब्रह्म जो उपास्य सर्व कलित ब्रह्म निरुपाधिक अर्थ विषयत्म निरुपाधिक अर्थ जो ब्रह्म विषय के उपासना ऐसे उसकी व्यावृत्ति निवृत्ति करते हैं नहीं निरुपाधिक नहीं कारण कारण सोपाधिक ब्रह्म ही होता है शुद्ध ब्रह्म कार्य है या कारण है कारण भी नहीं कार्य का तो नहीं कारण भी नहीं माया विशिष्ट चेतन है वो कारण है कारण ब्रह्म सोपाधिक ब्रह्म सगुण ब्रह्म की उपासना है ओम आप्यायम कुमार